कयामत के दिन उसके लिए अजाब दो गुना कर दिया जाएगा और वो उसी में हमेशा जलील किया हुआ रहेगा